आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio four 90.4 M सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम विशेष खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनकी बातचीत आपसे कराते हैं और उनके जीवन की कुछ खास उपलब्धियों से आपको अवगत कराते हैं और आपके जीवन में प्रेरणा मिले ऐसी कोशिश हमारी रहती है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम से तो आप सभी की तरफ से आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं मेहर मित्तल जो अभी बी के मित्तल बन चुके हैं तो उनकी जो जीवन कहानी हम सुनेंगे ही कार्यक्रम के दौरान तो आप सभी की तरफ से मित्तल साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में ओम शांति मित्तल साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम के दौरान मैं पूरी आपकी जो है लाइफ हिस्ट्री में जो विशेष बातें हुई है जैसे शुरुआत हम लोग करेंगे बचपन से तो आपकी बचपन की बातें हमें बताइए आपका स्कूलिंग वो सारी चीज़ें हमें बताइए हाँ जी बात ये है जी कि मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है चुग्गा खुर्द वो बैकवर्ड इलाका है जी हमारा हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं था कोई मंदिर नहीं था कोई गुरुद्वारा नहीं था हमारे स्कूल में हिंदी तो क्या कोई पंजाबी भी नहीं जानता था और जो कोई लड़का पैदा होता था तो जो आदमी था वो शहर में जाता लखवाने के लिए भी ये लड़का पैदा हुआ है और वो क्या नाम रखते कुगी कहाँ लोगड़ थानेदार ऐसे नाम रखते क्योंकि बहुत बैकवर्ड था तो उसमें हम मैं वहाँ पर हमारा परिवार था वो बड़ियों का परिवार था अग्रवाल का तो हम दो तीन घर थे वहाँ पर तो हमारे घर में हमारे पास ज़मीन कम थी और हम वहाँ पर पढ़ने लगे तो मेरा नंबर आता छः में सातवा हम सात भाई थे मेरा नंबर छः है तो वहाँ पर पढ़ाई तो होती नहीं थी तो जब मैं मेरा नंबर आया तो मेरी माँ कहने लगी भी ऐसा ठीक नहीं भी हम गांव में क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी बहुत कम है तो हमने कुछ थोड़ी सी ज़मीन बठिंडा ले ली बठिंडा डिस्ट्रिक्ट हरियास बटारा में और थोड़ी ज़मीन ले ली गिद्दड़वाहा जो कि पंजाब में था तो दोनों जगह ज़मीन ले ली और मैं पहला लड़का अपने गांव से बठिंडे आ गया मैट्रिक में पढ़ने पहली जमात में पढ़ने के लिए हाँ जी तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी वहाँ पर मेरा भाई रहता था और भाई के साथ भाभी रहती थी दोनों रहते थे बाकी सभी परिवार हमारा गांव में रहता था तो वहाँ पर पढ़ते रहे मैं पहली जमात में था तो मैं बड़ा डरू था डरू ये सो कि तो हम नए नए गाँव से आए थे तो गाय में ऐसा होता था कि अगर गाड़ी आ जाती ना बाई चांस बाई चांस तो लोग घर के अंदर घुस जाते डरते मारे कार मेरे मिन कार कार या जीप सवाल ही नहीं पता होता कोई आदमी अंदर रह जाता और दो दिन घोड़े जाते फिर छुप जाते क्यों लोग पुलिस से डरते थे थानेदार से डरते थे अनपढ़ आदमी थे कोई मतलब नहीं था तो मैं मैट्रिक में वहाँ पर पहली जमात में पढ़ने लग गया तो मैं मेरी पढ़ाई भी when I started I when I was seven years जब मैं सात साल बाद तो पहली जमात में पढ़ने गया तो मुझे भी डर लग लगने लग गया तो डरते डरते मैं बड़े मुश्किल से जाया करूँ फिर मेरी माँ कहने लगी भी स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा तो मैं ऐसा सेंसिटिव था मैंने कहा भी देखो बात ये है भी ये मुझे गाँव से लाए हैं अब इसे औरतों की रुकावट है नहीं स्कूल तो मुझे जाना ही पड़ेगा तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया पर मैं लड़के से बहुत डरता था एक आदमी ने मुझे मेरे लड़के ने मेरी बाँ पकड़ ली मैं घर पे शिकायत लाती माँ वो मेरी बाजू पकड़ता मैं तो ऐसा बड़ा मुश्किल है जाना स्कूल में आके क्या अभी क्या कोई बात नहीं फिर जब मैं पढ़ने लग गया ना मैं पहला लड़का था जो कि अपने टीचर को चाहे रिश्वत समझ लो चाहे कुछ समझ लो गांव से बेर आते होड़े आती होड़ा जब बड़ा चने की बढ़ाते हैं थे वो मैं अपने टीचर के सामने रह देता वो टीचर खाता रहता टीचर खा भी लेता तो उसने फिर मुझे मारा नहीं कभी मार मैं पढ़ा भी नहीं उसके बाद ये फिर पहली जमात होगी तो बातें होने लगी भी इसको फर्स्ट क्लास में पकड़ दें एक आदमी कहने लगा जी फर्स्ट क्लास को टीचर कहने लगा भी फर्स्ट क्लास में करना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ जान तो है नहीं कह नहीं यार हमें बेर खिलाए हैं ऐसा नहीं यार ऐसा मत करो तो मैं पहली क्लास में जाकर बैठ गया तो पहली क्लास में जाकर बैठ गया मुझे वहाँ पर कुछ समझ आए वाला भी समझ आए वहाँ पर पहले उर्दू लगता था अलब बे पे ते से वही मुझे समझ नहीं आई मैं दूसरी क्लास में हो गया जी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो दूसरी क्लास में मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ अपना कि मैं बाई चांस बाएँ हाथ से लिख रहा था तो टीचर आया रोशन लाल उसने आके मेरे मुँह थप्पड़ मारा थप्पड़ मार के मुझे वो हाथ छुड़वा के दाएँ से लिखना शुरू कर दिया उस दिन से उसी दिन से अब मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ बाएं हाथ से रोटी खाता हूँ अच्छा, अच्छा। मेरा बाएं हाथ चलता है तो फिर हम तीसरी में हो गए जी तीसरे में मुझे मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी भी मैं क्या करूँ कुछ भी मेरी बहन थी उसकी नई नई शादी हुई थी वो कहती पिताजी उसको मैं ले जाता हूँ अपने गाँव वो मुझे अपने गाँव ले गया उसका हस्बैंड टीचर था वहाँ पर मैंने एक साल गुजारा एक साल गुजारने के बाद फिर हम चौथी क्लास में फिर आ गया चौथी क्लास में जब आ गया मुझे को कॉन्फिडेंस आ गया कॉन्फिडेंस में आ गया जब चौथी क्लास में हम पास हुए तो मेरा नंबर फोर्थ था तो पाँचवीं में जब शुरू हुई पाँचवीं में तो पाँचवीं में I became leader of the class तो जब क्लास का मीटर हो गया तो मैंने कहा देखो मीटर तो मैंने मुझे इन्होंने बढ़ा दिया जब जब बड़ा लड़का होता है या जो तेज होता है मगर आई मस्ट भी मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं इंग्लिश पढ़ने लग गया हिंदी पढ़ने लग गया पंजाबी पढ़ने लग गया सब कुछ पढ़ने लग गया मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते ही मैं कंप्लीट हो गया मुझे कुछ कॉन्फिडेंस हो गया फिर मैं तीसरी चौथी पाँचवीं छवीं में मैं ड्रामे करते थे मैं भी रोज़ हिस्सा ले लेता था कई टीचर कहते थे भी ये तो अच्छा पढ़ता है टीचर है हाँ नीट है क्लास का तो इसको क्या ज़रूरत है फिर ड्रामे ड्रूमे ही करने की मैं करता रहता जी तो जी दसवीं तक मैं क्लास का मनीटर रहा अच्छा, पाँचवीं कंटिन्यू हर एक क्लास में मतलब लड़कों ने बदलने की कोशिश की आठवीं जमात में भी टीचर को लीडर बदलो तो बदलने के बाद भी क्या हुआ कि दो एक महीने के बाद कहने लगे नहीं नहीं अभी मेहर को बनाओ यार टीचर शुरू ये ठीक है तो मुझे बना दिया तो दसवीं तक मैं मनीटर रहा क्लास का लीडर रहने के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आते रहे कॉन्फिडेंस के बाद फिर मैं ड्रामे में रोल करता रहा फिर मैं रामलीला में चला गया रामलीला में मुझे जो सहेलियाँ होती हैं सीता की वो बनने का चांस मिल गया जब वो मिल गया जो चांस मिल गया फिर मैं थोड़ी देर कॉमेडी करने लगा वहाँ पर को मुझे कॉमेडी अच्छी लगती थी शुरू में मैं कॉमेडी लाइक करता करता था क्योंकि जब जो हनुमान जी आते हैं तो वो जंगल उजाड़ते हैं वो मुझे अच्छे लगते थे तो मैं जी आप सदा रामला में रोल करने लग गया लोग लाइक करने लग गए इस तरह से मैंने दसवीं पास कर ली की मैंने डिफ़िकल्टी में क्योंकि we are not so rich हम सिंपल आदमी थे हम गांव में तो लोग ये भी कहते थे भी मेरू आ गया पिंडा जो आ गए इन्होंने पास है नहीं इनको भी कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे कच्छा पहनना है क्यों कच्छे उस वक्त कच्छे जाते थे ऊँचे तो मैं कच्छा पहना था ये भी मुझे इनको पता तो है नहीं तो चलो ठीक है वो दसवीं में जी मैं I became popular in the Ramlila वो मैं करता गया फिर मैं ग्यारहवीं में हो गया ग्यारहवीं में फिर मैं रिप्रेजेंटेटिव बन गया फिर वहाँ पर मैंने ड्रामा किया ड्रामे करने के बाद फिर जी आस्ता आस्ता दो तीन साल के बाद मैं टीचर बन गया सच्ची बात है टीचर बन गया टीचर बन के बाद फिर मैंने एक ड्रामा किया वहाँ पर जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी बुढ़ाडा में ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं भक्ति बहुत करता था किसी को दुख नहीं देना चोरी नहीं करनी ये बाद में बताऊँगा ठगी नहीं मारनी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ ही हो जाए मतलब ये बाबा ने कोई ऐसी शक्ति दी थी मुझे फियर लगता था भी जैसे मेरे ऊपर बोझ आकर मैं झूठ बोला तो भी मुझे कोई मुझे मुझे चार आदमी बैठे हैं वो धक्का मारे हैं उंगली चुप हो तो रहे हैं भी तू सारा झूठ बोलता है मैं झूठ नहीं बोल सकता था तो मैं जी टीचर बन गया टीचर बन हमने ड्रामा किया ड्रामे बनने के बाद मैं टीचर लग गया तो उस वक्त फिर भी मैं बहुत काम अल्लाह फोन नहीं कर सकता था सर कोई भी कोई काम और मैंने बहुत कीर्तन किए कीर्तन किए हनुमान जी की स्पेशल पूजा करने लग गया फिर चिंतपूर्णी ज्वाला जी कांगड़ा मनसा देवी नैना देवी सब जगह गया मैं और बहुत जाता रहा अच्छा मित्तल साहब एक बात बताइए कि आपने माता पिता के बारे में कुछ खास बातें जो आपको याद हो हाँ, उनके हाँ। बारे में ज़रूर बताएं कि मेरे माता पिता जी सिंपल आदमी थे बिल्कुल क्वाइट अनपढ़ बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानते थे मेरा बाप लंडे जानता था लंडे होते हैं जो खेत लेन देन में लेते हैं लंडे वो और ही तरह होते हैं वो जानता था उन्होंने मुझे बस यही शिक्षा दी मैं ली उनसे भी तुम अपने बच्चों को ज़्यादा लड़ो मत ज़्यादा मारो मत अपने आप बन जाएंगे उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझे एडवाइज भी नहीं किया और ज़्यादा मुझे बगाड़ा भी नहीं अगर मुझे मैं शराब पीना जाता उन्होंने मुझे रोकना नहीं था ना रोकना नहीं था तो मैं ड्यूरिंग टीचर मैं थोड़ी बड़ी शराब पी लेता था कभी कभी कभी खा भी लेता था तो इतने में ये क्या हुआ जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ मेरा टीचर क्या रहेंगे मैं जी ला करने लग गया अच्छा, मेरी शादी होगी ला करने लग गया तो ला करने के बाद भी सर बात ये थी कि मैं मुझे घर वाले कहते भी तो आप हम गुजारा कैसे करेंगे मैं तुम तो मुझे सौ रुपये भेज दे रहना या अस्सी रुपये भेज दे रहना बाकी वहाँ वहाँ वहाँ पर मैं नौकरी कर लूँगा मैं चंडीगढ़ आया पहले बार क्लासें लगी थी वहाँ पर ला की स्टार्ट हुई थी अभी अच्छा, अच्छा। उन्नीस सौ साठ एक अगस्त को हाँ। मुझे याद है तो वहाँ पर मैंने जब ला शुरू किया मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की नहीं मिली फिर मैंने एक जगह अप्लाई कर दिया वैसे ही वो कहते भी तजर्बेकार लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हो टाइप आती हो मैंने लिख दिया हाँ आती है मुझे ये भी आती है ये भी आती है मगर ये अप्लाई तो करो ना देखी जाएगी पर कैसी किस्मत हुई जब वो इंटरव्यू वाले आए वो कहते हैं भाई नहीं नहीं चंडीगढ़ नया शहर है तो इसमें इसको चांस मिलना चाहिए ऐसी बात नहीं यार ये पुराने आदमी बैठे हैं ये सब सीख लेगा वो कहते हैं टाइप नहीं जानता नहीं टाइप सीख लेगा क्या है इसमें तो मैं वहाँ पर नौकरी लगी अब नौकरी भी लगी और ला भी करने लग गया फिर मैं वहाँ पर ड्रामे किए दो बलवंत गारी साहब बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए वो ड्रामे में इतना चांस था सर कि आप सोच नहीं सकते वो ड्रामे में जो लोग ड्रामा के बाद मुझे खड़े होते थे देखने के लिए भी इसने रोल किए हाँ चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मित्तल साहब से बात करते हुए और इनका जो है ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा रुझान था और लोग इनको चाहते थे ड्रामा होने के बाद भी इनसे मिलने के लिए लोग रुकते थे तो स्कूल लाइफ से इन्होंने ड्रामा करना जो है शुरुआत किया था और जब उनको टीचर की नौकरी लगी उस समय भी वो ड्रामा करते रहे और बाद में भी जब लॉ पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर गए वहाँ पर भी उन्होंने ड्रामा किए और नौकरी करते हुए ड्रामा किया तो बहुत सारी बातें हैं कि हम लगातार उन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके अंदर जो माता पिता के द्वारा जो शिक्षा उनको मिली है और उन्होंने अपने जीवन में कुछ वैल्यूज़ को साथ में लेकर आगे बढ़े जैसे कि सच्चाई ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़े मेहनत किया भक्ति किया तब वो आगे बढ़ते रहे तो आइए और भी बहुत सारी बातें हम मित्तल साहब से सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक radio station radio Madhuban 90.4 FM सुनते रहो मुस्कराते रहो से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधिया तो कर उनका खैर मकदम आती है आंधिया तो कर से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मित्तल साहब हमारे साथ है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप सभी को और शायद आपने उनको फिल्मों में भी देखा होगा और उनकी आवाज़ से रूबरू हुए हैं आप तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे आपने नौकरी करने शुरू कर दिया लॉ भी कर रहे हैं और प्लस ड्रामा भी कर रहे हैं एकदम मल्टी टैलेंट वाला जो काम आपने शुरू किया है तो इसके बाद क्या हुआ <laughs> बस उसके बाद क्या हुआ जी कि मैंने पहले नौकरी छोड़ दी टीचर की तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी ले ली फिर जब मैंने ला कर लिया तो ड्रामे मैंने बहुत किए तीन चार ड्रामे किए लोग लाइक भी करते थे फिर मैंने वो वो नौकरी भी छोड़ दी मैंने क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की चंडीगढ़ में हाँ जी मैंने मेरे मित्र advocate Punjab Haryana high court पर प्रैक्टिस मैंने की सेल टैक्स इनकम टैक्स की तो वहाँ पर मैं करता वहाँ पर भी ड्रामे शुरू किए वहाँ पर भी दो तीन ड्रामे ऐसे किए भी मतलब कि मुझे बस सोच मतलब कि एक बार डिप्टी कमिश्नर सेकेंड टाइम आ गया तो मैं गुप्ता जी आप आज फिर आ गए कहते नहीं वो बच्चे ले आए एक्चुअली वो खुद कहता था मैं दोबारा फिर देखूँ इस तरह कमिश्नर देखते थे जो तीन तीन बार देखने के लिए आते थे सच्ची बात है ये मैं तो मैं करता रहा मैं दिल में साफ था वो मुझे कोई गंदी आदत नहीं पड़ी कोई भी किसी किस्म की भी तो उसके बाद फिर इतने में क्या हुआ जी चंद बम्बे में पंजाब एसोसिएशन एक मेला बना रही थी बैसाखी मेला और एक आदमी फिल्म बना रहा था पंजाबी की इंद्रजीत सिंह हसनपुरी तेरी मेरी की जिंदगी उन्होंने उसने मेरा ड्रामा देखा उसने कहा मेरी फिल्म में काम करोगे मैं हाँ कर लेंगे उसकी फिल्म में काम करने के लिए और वो पंजाब एसोसिएशन का वहाँ पर फंक्शन करने के लिए मैं बम्बे आ गया बम्बे आ गया तो बम्बे एक दिन धर्मेंद्र ने देखा वो कहता ये किस आदमी को पकड़ लाया यार जो पंजाबी बड़े जी सी बोलता है यार कोई कमाल होगी मनोज कुमार ने देखा मुझे जी ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ नहीं सी मतलब जी वो सारे कमाल कंप्लीट हो गए तो वहाँ पर जी मैं रोल करने लग गया रोल करने के बाद मैं मुझे ये पता लग गया कि मैं आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता प्रैक्टिस घटा दी तो वहाँ पर लग गया क्योंकि फिर मैं और फिल्में मिलने लगी जो मुझे और फिल्म मिलने लगी मैंने तकरीबन ये काम बंद कर दिया एक्टिंग का अपना एडवोकेटी का हाँ अब मैं सीधा बम्बे चला गया बम्बे रहने लग गया बम्बे रहने से मुझे कुछ खर्चा ही बढ़ना था पर क्योंकि मैं किसी के पास रोल मांगने गया नहीं सर कभी भी अपने आप आते थे कि मेरे मित्र को करना है पंजाबी लेनी है मेरे मित्र करो तो मेरी अपोजिशन भी हुई लोग कहने लगे ये इसने तो पैसे दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटरों को भी डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसे दे रखे हैं अभी इसका नाम ले देते हैं मगर अभी पॉपुलरिटी में तक कोई पॉपुलरिटी खरीद नहीं जा सकती पॉपुलरिटी तो पॉपुलर है अगर मैं पॉपुलर हूँ लोग लाइक करते हैं फिर उसमें रेशो नहीं चलेगी अगर मुझे लाइक नहीं करते तो जितने मर्जी पैर लगा लो आई एम डाउन तो मुझे ये बात होगी वो करते रहे ये करते रहे फिर मैंने अपने घर वाले को भी बुला लिया और ट्रांसफ़र करवा ली अपना अपना चंडीगढ़ में ही तो वो भी आ गई फिर हमने क्वार्टर भी मिल गया हमें क्वार्टर मिलने के बाद हमने मकान भी डाल लिया बस फिर उसके बाद मुझे लगा भी मैं ये भी फिल्म लाइन में कैसे फिर मैंने फिल्म लाइन अख्तियार कर ली फिल्म अच्छा, सबसे जो पहला फिल्म आपने की थी उसका नाम और उसका हिस्ट्री बताई पहली फिल्म थी जी तेरी मेरी एक जनरी जिसमें धर्मेंद्र ने भी काम किया था राजेंद्र काम ने भी राजेंद्र कुमार ने भी काम किया पंजाबी में और अपना हीरा लाल ने भी काम किया और जीवन ने भी काम किया ऐसे लड़के को जानते थे हाँ धर्मेंद्र ने कहा भूआ का लड़का काम करता था ना उसने सबको काम करवा लिया तो उसमें मेरा रोल भी था वो ड्यूरेशन दे पीरियड एक फिल्म बन रही थी मो शेरनी तो शेरनी बनवा रहा था मनोज कुमार तो मनोज कुमार ने कहा भाई बात सुनो एक मेहर लड़का है मेहर मित्तल उसको लो यार तो जो एक्चुअली जो वो प्रोड्यूसर कहने लगे यार पता नहीं कौन है मेयर मित्र यार पंडित जी कहते हैं पंडित जी कहते थे मनोज कुमार को या मनोज को कहते उसको लेना पड़ेगा यार तो मुझे बुलाया कहते हाँ भाई तुम काम करोगे महंगाई कर लेंगे अब मैं डरता हूँ कि मेरे मेरे से पैसे मांग लें वो मैं ऐसा भी था वहाँ पर ही तो पहला रोल मैंने किया तीन रुपये में फिर मैंने किया ग्यारह सौ रुपये में आपको सर बताऊँ तो मैं डर रहा था उसने कहा नहीं आप क्या रोल करेंगे आप एक तो पंडित का रोल है एक और कमेडी का रोल है मैंने पंडित का रोल कर लूँगा पंडित का रोल ये मेरा इतना कामयाब हुआ हेयर निका यू काट इमेजिन परमात्मा ने ऐसे रंग जी वो फिर मैं करता रहा जी करता रहा फिर तो मैं मान लो कि पंजाबी इंडस्ट्री में आस्था छा गया मैंने ये कृपा तो परमात्मा की हुई मैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं आपको ये बता दूँ कि हमने शनिवार को बांटने जाना प्रसाद लड़कियों को प्रसाद देना हरे जो माता में नहीं गया वो वहाँ पर गया बीकानेर में चूहे वाली माता है वहाँ पर जाके आया जी फिर मैंने एक मक्खा देवी नहीं गया मैं बाई चांस दूर था सभी जगह घूम के और बाबा ऐसा चांस मिला कि मुझे अब मैं वहाँ पर अपने आप चला जाता था कोई कोई ना कोई तरीके से जैसे मैं राजस्थान में करनी माता का था तो मैं मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पर जाता था एक आदमी आई पार्टी के लिए कहते हमने शूटिंग करनी है राजस्थान में बीकानेर में मैं चलो भाई फिर <laughs> भी चलो भाई मैं तो ये बीकानेर चलो गया मैं कर माता के दो दिन में एक दिन में एक दिन गया फिर फिर गया फिर फिर गया और मैंने चमत्कार देखा ये मैं ये सभी लोगों के सब जो प्यारे संसद सुन रहे हैं उनसे ये कहता हूँ जो प्राउड करते हैं ना वो एकदम पता रह जाता है तो जब मैं माता के जाता था ना एक एक दफ़ा मैं माता से गया चिंतपूर्णी मैं पहले कहने लग गया यार रश बहुत होता है यार लोग मुझे घेर लेते हैं मैं नहीं जाता मैं नहीं नहीं यार चलो मगर नहीं मैं नहीं जाता क्या चलो यार मैं गया जहाँ से उतरा मैं लोगों को मुंह दिखाऊं कोई मुंह ना पछाने मेरा मैं सर पौड़ियाँ चढ़ूँ मेरी पौड़ी ना पछाने कोई मुझे देखे ही ना मैं यार ये क्या भाई ये तो कमाल हो गई मैं मत्था टेक रोना एक आंखों आंसू आ गए मगर माता मुझे माफ़ कर दे मगर मैंने प्राउड किया था बस ये लाज बोला नहीं ऐसे वहाँ पर कोई गुरु आए वो थे उन्होंने कहा मित्र को उठा के लाओ मंदिर से उठा लिया दो घंटे तक मेरी वाइफ ढूंढती रही मैं मिला नहीं किसी को <laughs> ओ ये मतलब ये ये मुझे सबक मिल गया पहले दिन ही ये प्राउड मत करो हंकार मत करो वैसे भी मेरे में हंकार नहीं था सिंपल रहना सिंपल कपड़े पहनना सिंपल बोलना हर एक आदमी से हाथ मिलाना हर एक की फ़ोटो खिंचवानी कोई मतलब नहीं था मेरे में बस फिर आस्ता आस्ता जी बस फिल्में ख़त्म होती गई मेरे मैं वहाँ मकान लिया मकान भी Belgium Holland Italy France Canada America German ये जगह बहुत बार गया महीना महीना मतलब लंदन तो खैर कई महीने अमेरिका भी बहुत बार गया कनेडा भी बहुत बार गया बाकी जर्मन में दो तीन बार गया इटली में दो बार गया पेरिस गया सिंगापुर गया बैंकॉक गया अपना अपना दुबई गया आबू धाबी गया मास्टर गया सब जगह गया पर ड्यूरिंग दैट पीरियड में एक बात और बताने भूल गया भी फिल्म लैंड में जाते ही मुझे ये टच हो गया भी अगर आप अगर आप शाकाहारी रहेंगे ना आप फिर कामयाब होंगे वह हो नहीं सकते तो मैंने ऐसा छोड़ा जी भी मेरे सास को बर्तन में रोटी भी खाता ना वो खाता नहीं था अगर फॉरन में मैं गया जहाज में बैठा हूँ मैं जी वेजिटेरियन चीप फूड चीप भी चीप फूड है मैं जो मर्जी है जी मैं चीप फूड खाता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वो भी खाई पर मैं ड्यूरिंग दैट पत्ती फाइव के बाद एक जनवरी से मैंने जी टच नहीं किया ऐसा बाबे का प्रताप हुआ प्रसाद फिर बांट के आना शनिवार को फिर बांटने जाना और एक बात और छोटी बताता हूँ मैं फरीकर प्रसाद मैं बांटने गया तो वहाँ पर मैंने अपने लिए सेब खरीद लिए एक दो बार भी मैं घर ले जाऊँगा मैं वो मुझे घर नहीं जाने दिए वो मैंने तकरीबन आधा किलोमीटर वो भी बांट दिए मेरी लड़की ने खरीदे वो भी मैंने रास्ते में बांट दिए जो चीज़ मैंने खरीदी रास्ते में जब मैं बांट रहा हूँ वो मैंने बांट दी मैं घर नहीं ले गया ये पक्की बात है सर बहुत ही अच्छी बातें जो है मित्तल साहब से हो रहा है और बहुत ही अच्छी बातें उनका जो फिल्म लाइन का अनुभव हम सुन रहे थे तो चलिए जा आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए जैसे कि गीत वगैरह भी होते हैं तो आपको उस समय कौन सा गीत जो है बहुत पसंद आते थे फाइव की आप बात कर रहे थे उस समय जो पॉपुलर गीत थे उसमें से जो गीत आपको बहुत पसंद है उसके बारे में बताइए उसके बारे में तो एक दो गणा जी वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले लें ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे हम हमेशा हमारे रहेंगे या और और ऐसे गाने थे जो मैं लाइक करता था तो वो गाने में सुना करता था तो ये मैं गंगा मैया के बहुत बार गया ड्यूरिंग दैट पीरियड हरिद्वार तो वहाँ के दो तीन गाने में पसंद आए वो मैं सुनता रहता था हमेशा ही वो गंगा मैया का गाना याद नहीं मेरे ख्याल याद नहीं मेरे ख्याल नहीं गंगा मैया हाँ गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरी मेरे बाबा तेरी जिंदगानी रहे गंगा मैया Unangami बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban 90.4 FM पर विशेष मुलाकात मित्तल साहब से और जो गीत उन्होंने गुनगुनाया उस समय 1975 में जब ये बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो गए थे और पूरी तरह से जो है फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा एक नाम कमाया उन्होंने और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया साथ ही साथ बहुत जगह देश विदेश में घूमने का एक उनको मौका मिला और उस समय जो गीत बहुत ही पॉपुलर थे उन्होंने बहुत सारे गीतों का नाम भी गुनगुनाया और आखिरी में जो गीत उन्होंने बताया था वो गंगा मैया का जो हमने अभी सुना आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मित्तल साहब से कि जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है कभी आ, उन संघर्षों के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ता है तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा मुकाम आया जहाँ पर आपको लगा कि ये थोड़ा दिक्कत वाला समय चल रहा है ओम बात यह है कि मुझे कितनी डिफ़िकल्टी आई कितनी ही डिफ़िकल्टी आई एक तो परमात्मा ने यह शक्ति दी मुझे कि मैंने कभी किसी से दो रुपये मांगे नहीं मुझे ज़रूरत पड़ गई ना तो पता नहीं क्या कहाँ से बीस रुपये की ज़रूरत है बीस रुपये आ गए पर मैंने किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से किसी किसी तरह से किसी से बाई हुक्कर बाई प्रोको या किसी से या कमीशन खाया हो मैंने कभी मैं मैं ये ये बाबा ने मुझे स्पेशल शक्ति दी है जी आज तक मैं ना वो मैं किसी से पहले लिया नहीं उधारे उधारे क्या मांगे ही नहीं मेरे दोस्त थे वो बड़े अमीर आदमी थे मैं उनसे वैसे कहता था यार दो दो रुपये लाना यार तो मेरे अंडर थे वो सारे पर पता नहीं क्या शक्ति मिली परमात्मा ने वो मुझे ये पता था एक बात और मैं इसलिए बता दूँ मैं हनुमान की पूजा क्या करता था पर मैंने क्या अभी गीता का भगवान तो कृष्ण हो नहीं सकता भी मैं भी एक अकेले बीस साल पहले वो तो मगर बाबा ऊपर क्योंकि कृष्ण तो मगर लड़ाई के मैदान में था वो तो मगर ऊपर बैठे हुए बाबा ये मुझे तीस साल पहले हाँ मैं ऊपर बैठे हुए बाबा वो इनको डायरेक्शन दे रहा है ब्रह्मा विष्णु और महेश को कि तुम नीचे ये करो और वो ये करते हैं वो आप नहीं आता नीचे ना वो दिखाते मैं कौन हूँ वो इनको पता है ब्रह्मा को भी पता है विष्णु को पता है और ये शंकर को भी पता है इनको पता है पर जब लोग मुझे कहते थे यार माड़ी मोटी ठगी मार लेकर ऐ कौन पैसा है जो आदमी चक अच्छे बने हैं वो ठगी मार के अच्छे बने हैं रिश्ते लेके अच्छे बने हैं तो मैं कभी ये सोचता नहीं वो जो बाबा है ना उसको हमारी एक्टिविटी दिखाई दे रही है अगर मुझे मगर एक्टिविटी दिखाई दे रही है मगर मैं तो मैं तो गरीब आदमी को बैठ के रोड पर रोक सकता हूँ जी मगर मैं जो मुझे ऐसा लगता है मैं मैं खुद गरीब आदमी हूँ मैं खुद मैं पैनीलेस हूँ मुझे कभी प्राउड आया नहीं किसी बात का भी मगर मैं, मैं ये बात हुई जी उसके बाद जी फिल्में बहुत बढ़ गई मैंने तकरीबन एक सौ अस्सी फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी थी वो दो सौ रिलीज हुई हैं मगर मैं डरते मारे कहता हूँ भाई जहाँ भी क्यों झूठ बोलूँ एक सौ नब्बे करो आप इंटरनेट इंटरनेट पर देख लो कम से कम सारी फिल्में हैं क्लिप हैं उनके लोगों ने डाली हुई है मैंने डाली कहीं पर बहुत डाली हुई फिल्में और लोग अच्छा ये हिंदी फिल्मों में जो काम किया आपने उनके नाम थोड़ा सा बताइए चार पांच फिल्मों में हिंदी काम किया एक तो जीने नहीं दूंगा धर्मेंद्र हमीद साहब था एक सोनी महिवाल एक इंडिया टूडे और इन इंडिया और इसका नाम था इंडिया टूडे तो प्रेस वालों का मैगजीन वालों का ये हमारा नाम है तो उन्होंने डाला इंडिया इंडिया इंडिया नहीं टुडे इंडिया हाँ उसमें मेरा वो रोल था और चार पांच फिल्में तीन चार की छोटी और थी एक फिल्म थी मुझे दो तीन फिल्में याद नहीं आती और और जो फिल्में मिली ना मुझे मैंने कहा भी मैं पंजाब में शूटिंग में जा रहा हूँ पंजाब के लिए पंजाबी फिल्मों के लिए भाई आप अगर रोल कराना तो करवा लो दो दिन में मरना मैं चला जाऊँगा वापस तो लोग कहते तुम तो हिंदी फिल्म में काम क्यों नहीं करते मगर मेरे मैंने क्या करना है भी बहुत मैं ठीक हूँ सब तरह से तो मेरा ये काम मिल रहा है मैं क्यों पूछ पूछे दौड़ूँ तो इस तरह से जी प्राउड की बात बताता हूँ एक छोटी सी अगर टाइम है तो बाबा भाई आपके नाम भी मेरे मैं गाड़ी नहीं ले नहीं सकता नए कपड़े नहीं पहन सकता अभी अभी तो पहनता हूँ बाबा के नाम अदरवाइज मैं कपड़े मेरे नए चलते ही नहीं मैं थोड़े पुराने हो जाए ना फिर पहनता हूँ वरना कब पेंट पड़ जाती थी ये पड़ जाता था मैंने बाबे बाबा को परमात्मा को मंजूर नहीं है तो मैं गाड़ी पुरानी ले ली लेता लेता था तो डिस्ट्रीब्यूटर करने लगे यार तू गाड़ी अच्छी लगती है यार तो ये किससे मैं दूंगा यार तू गाड़ी नहीं ले मगर ये मैं नहीं ले सकता कहता अच्छा गाड़ी मैंने बहुत बड़ी ली है तो तुम चंडीगढ़ से जलंधर था हमारा ऑफिस भी तुम मेरी गाड़ी में बैठ के जाना देख तुम्हें तो तमाशा देख रहा कहना तू क्या देख के याद करेगा मुझे मगर यार नहीं मैं गाड़ी ठीक है मेरी यार कह नहीं बैठ मैं तो गाड़ी में बैठ गया जी चंडीगढ़ से गाड़ी चली आप फुरवाड़े जाकर रुक गई वो फुहारी नहीं रो, रोगी मतलब रोक दी उन्होंने रो के कहा मैं चलो एक मिनट मैं ना किसी से बात करके आता हूँ तो तुम बैठ बीच मैं बीच में बैठा रहा लोग इकट्ठे हो गए लोग इकट्ठे हो गए ज़्यादा तो मैंने वो आ गया तो लोग कहने लगे ये ड्राइवर नाम रखा आपने अरे मगर ये मेरा कहते क्या कह रहे हैं मगर ये ड्राइवर कह रहे हैं आपको मगर मैं उनको कह रहा हूँ ये ड्राइवर नहीं है कहते सेल टैक्स इनकम टैक्स जाते हैं ना वो ऐसे कहते हैं ये गाड़ी आपकी है ऐसी गाड़ी क्या होगी ड्राइवर की ये गाड़ी आपकी है मगर तो देख लिया तू ये बाबे का चमत्कार है भाई बाबा पुरानी नहीं, नहीं देखता बाबा दिल देखता मगर क्या करें ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जो घटती हैं वो भी एक आनंद देता है और एक खुशी हमको प्रदान करता है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि पहले ज़माने में जो फिल्म में काम करते थे और अभी जो फिल्मों में काम करने के लिए जो डिफरेंस है उसके बारे में बताइए हाँ जी पहले फिल्म में जो मैंने कब शुरू किया ना एक तो फिल्में उस वक्त हम बढ़ाते सस्ती थी एक हमारे दिल में झील था अगर मुझे नौकर बनाया है तो मैंने नौकरे कपड़े पहनने हैं और नौकर जैसे बिहेव करना है नौकर जैसा बिहेव करके ही मैंने ना लोगों को को अट्रैक्ट करना है यानी मैं कपड़े से अट्रैक्ट करूँगा अब ज़माना ये आ गया अब लोगों में मैं आ गई मैं हंकार आ गया उनको नौकर बनाना है कपड़े खराब नहीं पहनेंगे हर लेडी को दरानी बढ़ाना है जठानी बनाना है छोटी बहन बनाना है कपड़े खराब नहीं पहनेगी आप आप कोई सीरियल दे लो आपको ये पहचान ही आएगा कि ये सस है कि नो है नहीं पहचानेगा आप तो आप तो अगर इधर बाबा की तरफ आ गए मैं भी नहीं पहचानेगा इसी तरह से हमारे जब मैंने फिल्म में काम किया जब मैं नौकर बनता था ना तो मैं नौकरी की तरह बिहेव करता था मगर डोमिनेट करता था लोग कहते नहीं यार नौकर को मिलना है नहीं यार इनसे इनसे नहीं मिलना यार इनसे नहीं मिलना नौकर अब बात ये है जी अब ये बाबा के बाबा की तरफ से देखो पापा कहते दुनिया बदल रही है माया आ रही है माया ये अभी और आने वाली है अब वो कपड़े नहीं पहनते अब कपड़े जो मर्जी डायलॉग कहलवा लो मैंने एक फिल्म में डायलॉग गलत बोले हैं मैंने कभी किसी फिल्म में डायलॉग बोले नहीं मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूँगा चाहे मुझे कहते नहीं क्यों मैं डोमिनेट करता था वो कहते अच्छा मैं था ना बोलो ये ठीक है तो अब ये ज़माना अभी और आता रहा ना तो ऐसे बोलेंगे जैसे ऑर्डनरी लफ्ज़ हैं कई फिल्में ऐसी हैं जो मैं और मेरा बेटा मेरी बच्ची बैठ देख रही हैं मैं देख के शर्मिंदा हो चला जाऊँगा वो शर्मिंदा हो चली जाएगी वो नहीं जाएगी हो गई डैडी चले गए पता नहीं क्या बात है जब मैं फॉरन में गया कहते ये डैडी अंकल जी चले गए होंगे अरे भाई मैंने क्या तो फिल्म कैसी चल रही है मैं कैसी अच्छा लगता हूँ आपके साथ बैठा हुआ अब तो चलता कहता जी अब तो चलती है चलती क्या है भाई चलती से तो चला रहे हो चलती तो कोई नहीं ये बात है ना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पहले के ज़माने में जो फिल्में होती थी उसमें किस तरह की बातें होती थी आज के ज़माने में जो फिल्में बन रही हैं उसमें जो परिवर्तन आया है बहुत बड़ा चेंज आया है और जो समन्वय की बात आपने कहा था जब पहले जो फिल्में बनती थी उसको परिवार इकट्ठा बैठ के देख सकता था आनंद उठा सकता था लेकिन अभी जो है उन चीज़ों को नहीं कर सकते मतलब या देख तो नहीं पाते अभी तो मुश्किल है अभी जो फिल्में बन रही है उसमें इस तरह की बातें होती नहीं हैं और देख भी नहीं सकते फैमिली इस तरह की फिल्में बनती हैं वो आपने बताया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मित्तल साहब से बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम करते रहेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये पकड़ कर चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या मगर तुम न कहना हमें बेवफा तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे नए चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं मित्तल साहब से आइए बात करते हैं जैसे कि बहुत ही अच्छे beautiful moments in your life बहुत ही अच्छे दिन आपके जो थे उसके बारे में बताइए हाँ जी बात ये है सर कि मूवमेंट मेरे अच्छे जो बाकी भी किताबें लिखते हैं ना लोग वो मूवमेंट अपने आप बना लेते हैं मूवमेंट होती नहीं है मैंने अपनी मेरी मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवा ली किसी से लिखने कहते लिखो जी तो मुझे कहते कोई चीज़ इसमें खास तो है नहीं मैं खास में डाल देता हूँ बना बना के वरना मैं है तो है नहीं तो इसमें जो मुझे जब मैं बम्बे में था तो जो मेरे में लाइफ में चेंज हुई एकदम वो तो मैं बता सकता हूँ भी जब मैं परमात्मा की तरफ आया बाबा की तरफ आया जब मैंने बाबा को खींचा वो तो बता सकता हूँ मगर उसी मेरे कोई और कोई ऐसी बात है नहीं जो मैं क्यों मैं रोटी खाता लड़कियाँ मेरी जो काम करती थी मेरे साथ उनके पास गाड़ी होती वो कहते मित्र जी बैठो तो मैं डर जाता क्योंकि मैं गाड़ी चलाना जानता नहीं उनको कॉन्फिडेंस था मेरे में नहीं था सेकेंडली वो अपने घर चली जाती मेरे घर आ जाती और कोई मेरे घर लड़की आ भी गई तो जब तक वो घर में जाती नहीं थी ना मेरे दिल में ऐसे रहता मैं मुझे जैसे काम रहा हूँ मैं ये जाए तब मैं मुझे आराम मिले पता नहीं क्या बात है ये बाबा की कृपा होगी सची बात मैं आई बार ट्रैवलिंग भी ये कब जाती है कहीं मित्र जी आप डर क्यों रहे हो मेरे से मैं डरने की बात नहीं अब तुम जाओ क्या करें मैं <laughs> क्या करेंगे बोल कैसे सची बात है जी बाकी मैंने इतनी फिल्मों में काम किया है लोगों ने इंटरनेट पे डाली हुई हैं जिस वो फिल्में और इंटरनेट में काफ़ी लोग देख रहे हैं मुझे तो पता नहीं था इतनी फिल्में कई फिल्मों के डायलॉग मुझे नहीं याद वहाँ पर डाले हुए हैं कई फिल्में एक दो मेरे नहीं याद लोगों ने वो डाली हुई हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री में ज़्यादा मेरी मेरे फ़ैन हैं अमेरिका में बेल्जियम कनेडा अमेरिका मतलब एक जगह में एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे उतरा रात के दो बजे थे तो मैंने कहा यार भी यहाँ पर गाड़ी लेनी है दो तीन आदमी और थे मैं यहाँ पर टैक्सी कैसे मांगेंगे यार मैं रात होगी वो शहर का नाम था सेक्रामेंटो तो मैं तो मैंने एक आदमी मेरे में चला तो क्या बैठो वो जी बैठ के मुझे घर ही ले गया अपनी वाइफ को उठो उठो परोठा बनाओ कहना मेल में चलाया वो मैं कहा फंस गया मैं तो उसके बाद जी जब भी मैं कभी जाता था तो मैं मुझे ये ट्रैवल है नहीं सर कि मैं मुझे टैक्सी मांगनी पड़े ऐसे लोग जानते हैं प्यार करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कुछ यादगार पल है आपके फिल्म इंडस्ट्री में या जो शूटिंग वगैरह आप करते थे जब हाँ। उस समय की कुछ बातें बताएं समय बात सिर्फ नहीं है इतनी है कि जो गलती मुझे एक बार पता लग गया ना मैं उसको डहरा ही नहीं गलती चाहे छोटी है मैंने फर्ज करो वहाँ पर लंच हो गया तो वहाँ पर स्वीट डिश है तो मैंने पहले तो एक डिश मांग ली चलो मैं अच्छे और मांग लो एक और मांग ली चलो मैं एक और मांग लो मुझे ऐसा क्या पता था एक आदमी कहने लगा स्वीट डिश लो कहता ये नया आदमी आया जी तीन तो ये खा गया मगर ये लोग मुड़ के डिश खाने ही नहीं मैं उसके बाद ही इतनी फिल्म आई कि खाओगे मैंने डिश नहीं खाऊंगा मैं मगर मैं डिश नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाता फिर किसी के इस तरह मोटे पे भार देना था बोझ देना था तो मैंने मुझे के पास था मैंने ज़्यादा बोझ दे दिया कहते जी किसको पकड़ लाए यार तुम मैंने ऐसा कहे बूढ़े मेरे वो मगर ना ना ये तो एक्शन में जो लगाना है एक्शन में आप ऐसे देखेंगे आप कि मैं पता नहीं आपको खींच रहा हूँ आपको छप्पड़ मार रहा हूँ मगर मेरे छप्पड़ लगेगा ही नहीं ये तो आप आपको प्रैक्टिकली मैं बता नहीं सकता सर ये बात है बाबा तो ये ऐसी चीज़ें मैं ना कई भी है जो चीज़ें मुझे एक बार पता लग नहीं गलती है इसमें मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे मैं भूखा हूँ या खा जाऊँ मैं वो, वो बंद नहीं करती मुड़ के खाई नहीं एक्चुअली नहीं खाई कभी खा ये तो हाल होगा मैं नहीं यार थोड़ी नहीं मैं चमचे में दे दूँगा मैं नहीं खाता है बात तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो ये मैं सब सीसा रहा क्योंकि मैंने कहा ये काम क्यों करें हमें क्या ज़रूरत है घर पे ही खा लेंगे हम अच्छा आपके जीवन में जो जैसे कि हम लोग अपने जीवन में भक्ति करते हैं या फिर कभी कभी कुछ गुरुओं को भी याद करते हैं गुरु के पास भी जाते हैं तो आपके जीवन में मोटिवेटर्स जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जो गुरु बने उनके कुछ उदाहरण बताइए ये बात पूछिए एक तो ये बात ये है कि जो फिल्म एक्टर है ना जो ये सारे फिरते हैं ना संत संत ये बाहर तो बातें करेंगे और जब मैं जाऊंगा हम जाएंगे जफ्फी डालेंगे बर्फी खिलाएंगे ये खिलाएंगे तो मैं दो तीन संतों से मिला उनसे मिला तो मैंने ये मैंने तो उसको मैंने मुझे क्या पता था मैंने उसको सौ रुपये पकड़ा दिया उसने पकड़ लिया और जब जाने लगा उसने मुझे पाँच सौ रुपया जेब में डाल दिया एक ने हज़ार रुपया डाल दिया मतलब मैंने कहा यार यही हमारी पूजा करते हैं फिर मैंने सोचा फिर दो तीन जगह मैं गया मैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहता नहीं शायद बाबा ठीक कहता है उन भक्तों में कि उन वो तो उनका दिखावा ज़्यादा है अंदर कुछ नहीं था फिर मुझे एक दो साल तो ये यकीन ही नहीं आया लोग सिर्फ कहते थे यहाँ पर भगवान आता है मैं ये भगवान भगवान नहीं आ सकता कहीं पर मैं मैंने भगवान वाले सब मेरे पीछे फिरते हैं मैं सारे मैं क्या करूँ तो मैं पीछे लगा ही नहीं तो ये चीज़ें इसलिए जो फिल्म एक्टर है ना इनको संत सुत एक्ट एक्ट नहीं कर सकते इनको क्योंकि एक तो पैसा इनके पास एक शोहरत उनसे ज़्यादा वो तो खींचेंगे मैं ये हमारे एक दम रश हो है जो अच्छा आदमी है तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती मगर फिर किस तरह से बाबा के बनेंगे फिर तो बात ही ख़त्म है अब तो अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई मेरी दादा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप फिल्म लाइन में थे और काफ़ी फिल्मों में काम किया 190 एक या 200 तक आपने फिल्मों में काम किया है और अलग अलग जगह आपने जो है शूटिंग के दौरान आपका भ्रमण हुआ और बहुत सारी जगह पर आप गए बहुत सारे लोगों से आपने मिला और जिस तरह से अभी आप वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और इस राजयोग का अभ्यास आप करते हैं तो ये आपके जीवन में किस तरह से आपको यहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखें नहीं जी पकड़ के पहले तो पकड़ के तो रखेंगे तब जब मैं आया पहले मैं कैसे आया मैं ये बताता हूँ जी मेन तो मेन तो ये आया हूँ कि ये जब जो आदमी यहाँ पर आता है ना वो मामूली तरह से नहीं आता उनका लिखा हुआ है पहले कैसे कि उसने आना ही है यहाँ पर वो रोक ही नहीं सकता उसको अपने आप खींच के लाए लाएगा तो मैं ज़रा मुझे डिप्रेशन हो गया ज़रा बताता हूँ तो मेरी लड़की पहले ज्ञान में थी तो उसने एक बार मुझे कहा था ये वहाँ पर भगवान आते हैं मगा आगे से ना कहना भगवान आते हैं सब मगा भाई तो बोली नहीं डेढ़ साल वो नहीं बोली शायद मुझे रोल नहीं था मेरा तो मैं डिप्रेशन आ गया मगर बिना मुझे ज्ञान मगर मुझे कहीं पर ले चलो कहते चलो तुम्हें ब्रह्म कुमारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मैंने ये लेसन शुरू कर दिया तो लेसन मैंने ऐसे शुरू किया उन्होंने कहा भी कृष्ण भी देवता नहीं था मैंने पहले कह दिया महाजी कृष्ण भगवान ही हो सकता गीता का फिर उसने कहा जी सर्वव्यापी मगर ना मैं खुद कहता हूँ सर्वव्यापी भगवान नहीं मैं ये ये अनपढ़ लोग हैं ना जो गंवार लोग हैं जिनको किसी समझ नहीं आती वो बैठ बैठ ये कह देते हैं भगवान सब जगह जी मगर ये कोई बात बनी फिर मगर कहते जी भगवान हरे कुछ कर सकते मैं तो आप क्यों पूछे ऐसे नहीं है भगवान रेलिवेंट चीज आएगा वो उसने अपनी दूजी दीदी को कहा बम्बे वाली बम्बे में मैंने क्या लिया था वो कहती है ये तो ये काफ़ी करता है इसका सात दिन की बजाय दस दिन कर देने की तो मुझे कहते हैं आपके लेसन तीन दिन और बढ़ गए माज पढ़ने दो तो दस दिन मैंने लेसन लिया कम्प्लीटली तो दस दिन के लेसन के बाद मुझे कई चीज़ों का नहीं पता लगा मगर मैं तो ऊंचा बोला करूँगा मेरी आदत ऊंचा बोलने की ला में भी ऊँचा बोलता था फिल्म लाइन में ऊँचा बोलता था बाबा कहता है नहीं नहीं कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो ये तो मेरे थप्पड़ लगा बहुत ज़बरदस्त फिर इस तरह बाबे ने फिर मैंने जिसने मुझे ज्ञान दिया था मैंने समझा भी मेरे इससे रिलेशन हो गया भाई भी पैर का मैंने कहा दीदी दीदी कहते क्या बात है चलो बैठो क्लास में मुझे मगर मेरे बात ही नहीं कर बात ही नहीं करती बाबे ने कहा कहते ये आपसे ये तो कहते अगर भाई बहन है ना वो भी आपसे बात नहीं करेंगे वो तो मुझे शौक मिल गया वो भी बहुत मिल गया मुझे बहुत शौक मिले बहुत शौक मिलने के बाद फिर जब तीसरा दिन था भी चौथा दिन था तो बाबा ऊपर से आते हैं अपना लेखराज जी के उसने कहा दो दिन कहते मैं काल का काल महाकाल हूँ ये नहीं भाव कह सकता इस संसार में कोई ये लफ्ज कह नहीं सकता मैं काल का काल महाकाल हूँ कहते मैं ही पतित बाबर हूँ मैं ही दादा हूँ माई का कहना मैं ही ज्ञान का सागर हूँ फिर जो ये कह देने का पवित्र का सागर मैं हूँ फिर तो मगर ये बाप भी है हस्बैंड भी है मदर भी है पुत्र भी है वाइफ भी है फिर तो मगर सब कुछ ही है जो पवित्र का सागर ही है और हमारे गांव में लोगों ने पैसा है उन्होंने समुद्र देखे भी नहीं की आज तक बात क्या करेंगे समुद्र ही देखा आज तक कभी बस जी फिर फिर जी मैं आपको ये बता नहीं सकता भी बाबा की शक्तियाँ उसने मुझे किस तरह अनुभव कराया किस तरह मुझे मैं एक बात बताता हूँ पहले पहले ही मैं तीन महीने के बाद टिकट ले ली वहाँ से बम्बे से अहमदाबाद की क्यों ट्रेन में मैं आ नहीं सकता था तो मुझे दीदी कहने लगी भी आप मित्तल ही आप जा रहे हो माउंटो पर जा रहे हो मैं हाँ जी कहती आपने आज़ाद ले ली मैं हाँ जी मुझे तो आज़ाद लेते हैं कहती आज़ाद लेते हैं मैं आज़ाद किस बात की कहीं जाने की मौलवा टेटी टेल टेट ले ली आज़ाद के लिए मैंने टीट ले ली नहीं की बात नहीं हमसे आज़ाद लो मैं आज़ाद दे दो कहीं ले दो हमारे हाजिरी देगी वो रिजेक्ट कर दी पाले पाले वालों ने योगी दीदी ने कह दिया अभी तीन महीने हुए ये नहीं जाता था मैंने कहा जी एक बात सुन लो मैं अब अब भी कहता हूँ चाहे गलत मैं कहती मैं जाना है चाहे बाहर बैठ के जाऊँ चाहे भूखा मरूँ चाहे कुछ मरूँ टू लेट का बोर्ड लगने वाला है और मगर मैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगवाना मगर ये मैं तो चाहे कुछ हो जाए जाना ही जाना ऐसे सरकम सांस हो जाए एक आदमी ने बिड्डे का नाम बता दिया एक आदमी वहाँ पर आप मिल गया खैर मैं निर्भय भाई को जानता हूँ जो जब पहले दिन आया तो मैं ये फर्स्ट बेंच पे बना बैठा हुआ था साहब बिल्कुल नज़दीक सबसे पहले मैं देख रहा था उनको बाबा का सारा बयान देख रहा था बस इस तरह ये पर इस तरह से फिर तो ये अनगिनत ये तो इसका मुकाबला किसी इंस्टीट्यूशन से करना इसका मुकाबला किसी किसी चीज़ से भी करना वो अपने आप को गराना है या अपने आप को धक्का मारना है या अपने आप को बेवकूफ़ कहने की बात है ये तो कैसी चीज़ है जो कुछ पीढ़ी के लिए आती है अब जब बाबा आया आई और जब ये विनाश होगा तब ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी खत्म हो जाएंगे बस कोई जरूरत नहीं फिर फिर फिर आएंगी फिर मैं चौंकती आएंगी फिर आप दीदा फिर मैं यहाँ पर ज्ञान जो दादी दादी जान की ज्ञान देती है वो खुद नहीं बोलती है मैं खुद कहता शायद आप समझे वो तो भगवान में होता है उसको मगर उसको आधे आदमी उसकी गहराई समझते ही नहीं किसी को ये गह अब आम आदमी सुना ना तो उनको ये समझेंगे ये क्या कह रही है हाँ भाई तुम ऐसा बोलते बोलती क्या एक बजे दो दिन क्लासे हैं मेरे पास मैं रात को ही सुनता रहता हूँ और उसमें मैं मुझे नए दिन नया से नया ज्ञान आता है नया से नया ज्ञान आता है तो अब तो ये बस मैंने जगह यहाँ पर ले ली मधुबन में यहाँ पर एक निर्भय भाई हैं निर्भय निर्भय हैं हमारे ये दोस्त हैं निर्भय भाई चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और यहाँ फिर आकर कैसे रहना शुरू हो गया फिर आप अपना जो है पूरी तरह से इस आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और योग करके अपना प्रैक्टिस भी बढ़ा रहे हैं और इस जीवन शैली को आप अच्छी तरह से जी रहे हैं ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बातें हैं जो जो बातें आपके साथ घटी वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शब्दों में हमारे साथ शेयर किया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें हाँ बस यही बात है जी भाई भाइयों कुंभकर्ण की नींद से जागो ये लफ्ज़ मैंने मैंने पढ़ा नहीं आपका जिस दिन मैंने अपने इश्तिहास पढ़ाए ना उस दिन कुंभकर्ण की नींद मैंने खुद लिखा बाद में पढ़ा लिखा कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाबा से मेल तो खानी है बाबा की संतान है जब बाबा के बच्चे हैं तो जो चीज़ बाबा बोलेगा हो सकता है वो हम ही बोल लें तो कहते आप बाबे सीखिए मैं बाबे क्या सीखे जब बाबे के बच्चे हैं हमें अपने आप आ गए हमारे अंदर तो जी वो तो इसलिए जो ये तो किस्मत वाले के हाथ में चीज चाबी है ये तो जो ये चाबी हाथ में जिसे घुमा दी ना बस उसके बाद सब कुछ आ गया सब कुछ आ गया मुझे किसी चीज़ की सिंपल खाना खाता हूँ सिंपल दोस्त खाना खिलाते हैं मुझे सिंपल रहना कभी झूठ नहीं बोलना कभी ठगी नहीं मारनी एक बात और है आप आप ज्ञान जितना मर्जी सुनते रहो अगर आप धार नहीं कर सकते अगर आप लोगों को दुख देते हो दुख देना दुख का कारण बनना तो फिर फिर फिर फिर वो तो ये बाकी बढ़ाई आपकी क्या रहेगी चलिए मित्तल साहब ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सभी को दिया और उन्होंने बताया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यानी साधारण रहो और उच्च विचार अपने साथ रखते हुए चलो कभी चोरी नहीं करो कभी किसी को ठगो नहीं बस ईमानदारी से आप अपना जीवन जीते रहें सादा जीवन जिए उच्च विचारों के साथ तो आपका जीवन सदा खुशनुमा रहेगा सदा खुशहाल रहेगा तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आए और अपने जीवन का अनुभव शेयर किया हमें बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जरूर जरूर जी जी हाँ, तो चलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम सुनकर आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला समझने को मिला होगा और आपके जीवन में एक मोटिवेशन मिले एक प्रेरणा मिले ऐसी शुभ आशा के साथ आप अपने जीवन को सदा खुशनुमा बना के रखें ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और मित्तल साहब को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफल और ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किस धुन पर ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किस धुन पर कहीं गुन गुन कहीं रुन झुन जैसे नाचे जमी सुहाना सफल फिकर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफल ये गोरी नदियों का चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर ये गोरी नदियों का चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर प्यारे प्यार ये नजारे निखार है हर कहीं सुहाना सफल और ये मौसम हसी सुहाना सफल और ये मौसम हसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफल और ये मौसम हसी आसमां झुक रहा है जमीन पर वो आसमां झुक रहा है जमीन पर ये मिलन हमने देखा यहीं पर वो आसमां झुक रहा है जमीन पर ये मिलन हमने देखा यहीं पर मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही सुहाना सफर और ये मौसम हसी सुहाना सफर और ये मौसम हसी हमें डर है हम तो न जाए कहीं सुहाना सफर और ये मौसम हसी सुहाना सफर और ये मौसम हसी